ओमाप्यायन्तु महागानि प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलिन्द्रियाणि च सर्वाणि सामवेदीय छांदो के परिषद प्रथम अध्याय द्वितीय खंड ष्ठ मंत्र तक कुछ विचार हुआ जिसमें असुरों को पराजित आसुरी वृत्ति को पराजित करने के उद्देश्य से दैवी वृत्तियों ने तत्त इंद्रियों को नाशिका बाघ प्राण चक्षु स्रोत्र ध्यान चक्षु स्रोत्र मन ये सबको इनकी दृष्टि करके उदान किया उदार किया उपासना की कहा उनको उर्गात रूप से स्वीकार किया किंतु ये सब के सब अपने अपने विषयों के आसक्ति रूप जो अधर्म के द्वारा कोई अधर्म उनके उठा हुआ अधर्म से ही असुर ने उनको भेदित कर दिया सफल नहीं हो पाए असुरों को जीतने के लिए अब सप्तम मंत्र को कहते हैं आगे मुख्य प्राण दृष्टि से उपासना की ओर और सफल होगा ये दिखाना चाहते हैं मंत्र है अतः अयम मुख्य प्राण तम उदीतम उपासन चक्री रे तम हासुरारित्वा विदधम सूर यथा अस्मान आकणम विद्वा शेत अतः अयम मुख्य प्राण तमोदीठमुपाशा चक्रीरे तम हासुरा विदुध्वंसोर यथा अस्मान आखम मृत्वा विध्वंसेत अथ अनंतर जब तब तक इंद्रिय दृष्टि से उद्गित उपासना की असुरों को जीत नहीं सके असुरों ने पाप से भेद डाल दिया तब उसके पश्चात प्रसिद्ध है या ये अयम मुख्य प्राण जो मुखे भव मुख्यम शरीर शरीरावय बात चतुर्थ से प्रत्यय मुख में चलने वाला प्राण है मुख्य मुखे भव मुख्य मुख में होने वाले को मुख्य बोलते हैं यथ प्रत्यय लगा हुआ मुख्य शब्द से यथ करके बनाया मुख में चलने वाला जो प्राण है मुख्य प्राण तम उस प्राण को उदगित हम उपासना करेंगे माने उसके उदगित दृष्टि से उसकी उसके दृष्टि करके उद्गीत का जो अवयव है उद्गीत है कर्म विशेष है उद्गान कर्म विशेष तो उसका अवय ओंकार है उसकी उपासना की प्राण दृष्टि से ये कहा क्योंकि उपासना तो ओंकार की है दूसरे की नहीं तब दृष्टि से ओंकार की उपासना है तम्भ असुरा रित्वा विद्वंसूर कहते हैं उस प्राण को भी जैसे पूर्व में इंद्रियों को भेद डाला था आसक्ति के पाप के द्वारा वैसे उस प्राण को भी तम मुख्य प्राण असुरा असुर लोग वही आसुरी वृत्ति जो है असुर लोग है वो लोगों ने रित्वा समीपे गत्वा पास में जाकर के फिर ध्वंस जब गए उसको नाश करने के लिए स्वयं नष्ट हो गए सारे के सारे स्वयं नष्ट हो गए असुरी सारे नाश हो गए उनको कहते हैं यथा असमानम आकड़म ऋत्वा विद्वंश जैसे एक पत्थर है छोटा मोटा पत्थर में आखड़म विशेषण है जो किसी की तरफ तो खोदा नहीं जा सकता उसको आखड़ा कहा जाता है आखड़ा खोदा नहीं जा सकता इतना बड़ा पत्थर है शिला उसमें मिट्टी का ढेला कोई फेंक देता हो तो पत्थर का कुछ बिगड़ता नहीं है मिट्टी का ढेला स्वयं फुट जाती है वही नष्ट हो जाता है ठीक इसी प्रकार बोलते हैं उस बुद्ध के प्राण को जो अभिप्राय किया इसको पाप से वेदित करेंगे सोचा असुरों ने तो उसको समीप को प्राप्त करके रित्वा प्राप्त करके विदध अंशुर स्वयं नष्ट हो गए तब ध्वंसु है भी उपसर्ग है विशेष रूप से नष्ट हो गए ध्वंस हो गए असु स्वयं नष्ट हो गए यथा असमान आक्रमित विध्वंस है ये दृष्टांत दिया जिस प्रकार एक पत्थर है न खन्यते यदि अखाना जिसको खोदा नहीं जा सकता ऐसा पत्थर है गड़ा हुआ पत्थर है मजबूत पत्थर है उस पत्थर को प्राप्त करके जो मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है स्वयं जो पत्थर को मारने के लिए जाता है मिट्टी का ढेला स्वयं नष्ट होता है ठीक इसी प्रकार जिस प्राण को पाप से वेदित करने की दृष्टि से चल पड़े असुर स्वयं नष्ट हो गए ऐसा कहा ठीक है वे कहते हैं अथह इत्यादि मुख्य प्राण विषय में वाक्य में उत्थाप्य व्याकुरती अथह इत्यादि जो वाक्य है मुख्य प्राण को विषय करता है ये इंद्रियों को भी प्राण कहा है ये गौण प्राण है वो प्राण के सहारे से चलते हैं इसलिए इसको प्राण कहा गया किंतु मुख्य प्राण होता है मुख में चलने वाला प्राण ही कहते हैं आसुरेण इत्यादि भाषी में कहा आसुरेण विद्धत्वाद घृणादि देवता अपुह्य असुर के द्वारा वेदित होने के कारण क्योंकि उनके पास सबके पास आसक्ति थी कल्याण दंड ग्रहण करने का जो श्रेय है मेरा है बोलने का जो श्रेय है वो मेरा है अपना अपना ऐसा था सबका इसलिए पापों ने वेद कर दिया था इसे कहा आसुरेण विद्धत्वाद घृणादि देवता अपुह्य असुर असुर के द्वारा वेदित होने के कारण घृणादि देवता को परित्याग कर दिए घृणादि देवता की उपासना परित्याग कर दी देवता द्वितीय बहुवचन उनको परित्याग करके अतः अनंतर अथवा अनंतर उसके पश्चात यह एवं अयम प्रसिद्धो एक प्रसिद्ध प्राण है कौन तो मुखे भगव मुख्य मुख में होने वाले को मुख्य कहा मुख शब्द से यद प्रत्यय करके मुख्य बनाया गया मुखे भगव मुख्य प्राण मुख्य प्राण है तम उदगितम उपासन है उसके उद्देश्य करके ओंकार की उपासना करने लगे क्यों उपासना तो प्राण की नहीं ओंकार की ही है है असुरा पूर्ववत रिप्वा प्राप्त फिर उस पहले जैसे असुर जाते थे उसमें रहने वाले आसक्ति से उसको भेदित करते थे उसी प्रकार गए तम उस मुख्य व असुरा असुर लोग बने आसुरी वृत्ति यहां पर असुर माने कोई दैवासुर संग्राम नहीं या भीतर ही है अध्यात्म में तो तम असुरा पूर्व ऋतुआ माने प्राप्त पहले जैसे गए थे इंद्रियों के पास उसी प्रकार गए प्राप्त विदुध्वंसु स्वयं नष्ट हो गए विनष्ट विदुध्वंस हो गए विनष्टा नष्ट हो गए सब अभिप्राय मात्र उसको आसक्ति से जोड़ने की इच्छा से गए थे किंतु अभिप्राय मात्र से नष्ट हो गए प्राण को कुछ भी नहीं करना पड़ा कैसे तो आगे देते देते हैं अकृत्वा किंचित अभी प्राण दे प्राण को कुछ भी बिगाड़ नहीं सके पाप से वेदित नहीं कर सके किंतु स्वयं नष्ट हो गए कथम विनष्टा इत्यत्र दृष्टान कैसे नष्ट हो गए शत्रु को पाप से वेदित करने के लिए गए थे असुर लोग किंतु स्वयं नष्ट कैसे हो गए प्रश्न आया कथम विनष्टा कैसे नाश हो गए असुर इत्यत्र दृष्टान्त इसमें दृष्टांत दिया यथा लोके जिस प्रकार लोक में देखा जाता है लोक व्यवहार में देखा जाता है असमानम आखनम अस्मा है अस्मा में पत्थर को अस्मन अस्मन बोलते हैं अस्मा होता है अस्मानम आखणम विशेषण है उसका जो खोदा भी नहीं जा सकता ऐसा आखण है पत्थर है आसमा है गड़ा हुआ है धरती में मजबूत होके बैठा है हाँ। आखणन करता न शक्य थे खनि तुम आदि भी फावड़े आदि से जिसको खोदा नहीं जा सकता ऐसा पत्थर है असमानम आखणम असमानम जो खोदा नहीं जा सकता गड़ा हुआ पत्थर है जमा हुआ पत्थर है ऐसा भी भेद तुम न सक्य थे किसी के द्वारा भेद नहीं किया जा सकता उसको तोड़ा नहीं जा सकता ऐसा पत्थर है न सक्यो अखण एवं आखण या आखण शब्द आंग नहीं है ये अखण को आखण बोला है स्वार्थ में अप्रत्यय लगा करके अखण कोई आखण कहा न खाना अखण अखण एवं आखण आखण तम रित्वा उस पत्थर के पास जाकर के कल कौन सामर्थ्य क्या कौन जाएगा पत्थर के पास यहाँ कुछ कहा नहीं मंत्र में कहते हैं पत्थर के पास जाता हो नष्ट होने के लिए कौन जाए मिट्टी करेगा यही होगा सामर्थ्यात या शब्दों के सामर्थ्य से यहां कहा है लोस्ट पंश पिंडवा या तो लोस्ट है अथवा मिट्टियों का ढेला है पंश पिंड माने मिट्टी का ढोला ढेला है या लोस्ट माने क्या होता है जब घर की पोताई करते हैं पोताई करने के बाद जो बचे हुए होते हैं मिट्टी जो फेंकने का काम आए उसको लोस्ट बोलते हैं पहले जमाने में कच्चा घर होता था तो रसोई में जो भोजन होता था भोजन के बाद में गोबर के ठेले से ला करके उसे वो करते थे लोस्टा बोलते थे उसको बाद में बाहर फेंक देते थे तो लोस्टा हो अथवा पांच से मिट्टी का ढेला हो दोनों में से कोई भी हो सकता है ये दो में से कोई हो सकता है जैसे पत्थर के पास जाता है विशेष पत्थर आगाम और असमान है जो खोदा नहीं जा सकता फावड़े आदि के द्वारा भी ऐसे पत्थर के पास जाएंगे तो वो सब नष्ट होना पड़ेगा पत्थर को मारने के लिए मिट्टी जाए तो नष्ट होना पड़ता है उसी प्रकार मुख्य प्राण को पाप से वेदित करने की इच्छा से गए थे असुर लोग किंतु स्वयं नष्ट हो गए तो श्रुत्यंतराज्य कहा अन्य श्रुति में वहां पर अस्मन शब्द का ही बात है वृद्धारण में अस्मन शब्द का बात है यदा आसमान मृत्यु लुष्टो विध्वंस का ऐसा मंत्र आता है वृद्धारण में तो इसलिए वहां लोष्ट ही आएगा पांशु पिंड ही आएगा मिट्टी का ढेला ही होगा यहां तो कहा नहीं न कहने पर भी अन्य श्रुति के द्वारा ये पता लग जाता है वो लोस्टा है वो अच्छा। या तो सामर्थ्यात बोल दिया एक हेतु दिया अथवा श्रुतंतरा दूसरे श्रुति ऐसी बोलती है वृद्धारण श्रुति लोष्ट शब्द का प्रयोग करती है अस्मनी क्षिप्त मिट्टी का ढेला हो अथवा लोष्ट हो पत्थर में फेंका गया पत्थर को तोड़ने के लिए उद्देश्य से फेंका गया जो मिट्टी का ढेला होगा अस्म भेदा भेदन अभिप्राय किसके लिए पत्थर को तोड़ने के अभिप्राय से फेंका गया जो मिट्टी का ढेला होगा वो क्या होता है तस् अस्मना किंचित अभ्यकृत्वा उस पत्थर को कुछ किए बिना स्वयं विध्वंस मिट्टी का ढेला स्वयं नष्ट हो जाता है ठीक इसी प्रकार विदीर्यता एवं विध्वंस ऐसे असुर नष्ट हो गए प्राण को कुछ हानि पहुंचाने जा रहे थे तो प्राण को स्वयं नष्ट हो गए मुख्य प्राण को असुर वेदित नहीं कर सकते क्यों उसके वो उसमें कोई आसक्ति नहीं है मुख्य प्राण उसकी विशेषता है उसमें घमंड नहीं है अहंकार नहीं है कि मेरे बिना देखना सुनना नहीं बनता ऐसा नहीं बोलता वो सबके पोषक है वो मुख्य प्राण सभी इंद्रियों का पोषक है ठीक टीका से देखें पूर्ववत बाघादि शु इव इत्यर्थ पूर्ववत शब्द का था बाघादि शुभ पूर्ववत ऋतु अपने जैसे बाघादि इंद्रियों के पास गए तो व्यतीत कर दिया था सुरों ने वैसे प्राप्त करके तो कुछ नहीं कर सके ये कहा आज कहते हैं टंकश्च विदार गए लोह विशेष इत्यर्थ आया तो भाष्य में कहा था यथा लोके असमानम आखणम न सकते थे खनितुम कुदालादि भी जो आदि शब्द है तो आदि शब्द से ये लेना है यहाँ आदि पदे ना ऐसा टीका में जुड़ जाता तो अच्छा होता था आदि पदे ना टंकश्च विदार गए लोह विशेष टंक जो दूसरे को भेदन करने वाला होता है टाइम के जिसको बोलते हैं टाइम के कहते हैं लोह विशेष उसके द्वारा भी तोड़ा नहीं जा सकता कौन ऐसा पत्थर उसको तोड़ने की इच्छा से मिट्टी का ढेला जाए तो सब नष्ट होना पड़ता है तो टंकष्ट मैंने विदार गए लोह विशेष से कहा लोह विशेष को टंक बोलते हैं जैसे टंक करके बोलते हैं लड़ाई की सामग्री होती है या आदि पद है ना जो मूल में आदि दिया था कुदाल आदि भी वो आदि से ही लेना है ये कहा अश्रुत से लोष्ट से अत्र उपादान हेतु महा यहाँ लोष्टपद सुनाई नहीं पड़ा है पांशुपिंड भी सुनाई नहीं पड़ा तो कैसे यहां ग्रहण कर दिया भाष्यकार ने सामर्थ्यात लोष्ट पांशुपिंडो का बोला हुआ है नाश करने गया कौन गया पत्थर को नाश के लिए तब कहते हैं यहां अश्रुत से लोष्ट लोष्ट शब्द सुनाई नहीं पड़ा मंत्र में भाष्यकार ने कैसे प्रयोग कर दिया होगा उसमें ग्रहण करने में कारण बदलाते सामर्थ्य सामर्थ्य है जब पत्थर को पार जाके स्वयं नष्ट होने वाला मिट्टी का ढेला हो सकता और क्या हो सकता हो ये तस्य ध्वंसन योग्यता उसको नाश होने की योग्यता है मिट्टी के ढेले में जो पंक्ष पिंड है अथवा लोस्ट है उसमें नष्ट होने की योग्यता है इस पत्थर के पास जाके नष्ट होना माने वही हो सकता और क्या हो सकता है तस्य माने पांच पिंड अथवा लोस्ट ध्वंसन योग्यता नाश होने योग्य है ध्वंसते स्तर कर्त अपेक्षा नाश वैसे नहीं कोई नहीं होगा तो किसका नाश होगा कोई होगा तो नाश होगा ना कर्ता की अपेक्षा है ध्वंस तो नाश होने के लिए नष्ट होना है तो क्या नाश होगा मिट्टी गलेगा क्योंकि तो उसके ध्वंस होने की योग्यता है अभाव होने की नाश होने की योग्यता है उसमें और नाश जो होता है कर्ता की अपेक्षा रखता है किसका नाश होना तो व्यक्ति बताना पड़ेगा व्यक्ति मिट्टी का डेला याद है तभी ऐसे कश्य एवं विदस्य संभवात अलम लोष्ट ग्रहण आशंका तब तो महाराज नाश होना ही है वह पत्थर के पास जाकर के स्वयं नष्ट हो जाता है कोई भी वस्तु लिया जा सकता है तो मिट्टी का ढेला ही क्यों लेना है आपने लोस्ट लोस्ट अथवा पांच पिंडोवा क्यों बोला कोई भी वस्तु और ले लो एक शंका है तभी तब तो नाश होना है पत्थर के पास जाकर के तब तो यश्य कश्य एवं विदश इस प्रकार का जो नाश होने योग्य वस्तु होगा जो कोई ले सकते हैं पत्थर के पास जाकर के नाश हो सकता हो संभव अलम लोष्ट ग्रहण फिर ये लोष्ट ग्रहण से पर्याप्त है क्या करना इसको लेकर बस क्यों लोष्ट ग्रहण किया शंका आ गई तो कहा वृद्धार्मिक श्रुति में लोष्ट शब्द का ही प्रयोग है जाता हैं यथा असमान मृत्वा लोष्टो तो वृद्धार्मिक ऐसा कहा है श्रुत्यंतराक्ष जो मंत्र दिया था उसी का ये श्रुति अंदर दिया है यदा असमान मृत्यु जिससे पत्थर के पास आकर के लोष्टो विध्वंस था लोष्ट नष्ट हो जाता है इसलिए यहां भी भाष्यकार ने लोष्ट शब्द का ही प्रयोग कर दिया वहां देखा है भाष्यकार ने लोष्ट शब्द का प्रयोग है करके यथा असमान मृत्यु लोष्टो विध्वंस थी वृद्धारण श्रुति है तस्व अत्र ग्रहण वृद्धारण श्रुति में है उसी लोष्ट का यहां भी ग्रहण करना होगा वही लोष्टक हमें ग्रहण करना होगा ये कहा श्रुतंतराच इत्यादि बोल दिया आगे मंत्र है एवं यथा अस्मानम आखण मृत्वा विध्वंसते एवं हैवस विध्वंसते एवं विधि पापम कामयते यम अभिलाषति सो अस्माखण एवं यथास्मान अस्मानम् आखमृत्वा विध्वंसते एवं हैव स विध्वंसते एवं विधि पापं कामयते यनम अभिलाषति स एषो एवं इसी प्रकार जैसे पत्थर के पास जाने से मिट्टी का ढेला नष्ट होता है यथा असमान आखंड रित्वा विध्वंसते जैसे पत्थर के पास जाकर के मिट्टी के ढेला नाश हो जाता है ठीक इसी प्रकार एवं हाई हा इसी प्रकार सब विध्वंसते वो व्यक्ति का नाश होगा इसका यह एवं विधि पापम कर्म का आनंद जो प्राण के उपासक है हम्म। प्राण दृष्टि से ओंकार की उपासना करने वाले व्यक्ति के ऊपर उपासक के ऊपर पाप की इच्छा करता कुछ गलत सोचता हो पापम काम है इच्छा इच्छा कर इच्छति पाप कर्म इच्छा कम काम तो धातु इच्छा है पाप कर्म कर्म का अनिष्ट चाहता हो उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा वो क्यों और दूसरी बात यश एनम अविदास दूसरा व्यक्ति इसको ये जो प्राणोपासक है प्राण दृष्टि से ओंकार की उपासना करने वाला व्यक्ति इसकी अविदास मारना चाहता है हिंसा करना चाहता है वाणी से हिंसा अथवा शारीरिक हिंसा मानसिक हिंसा अनिष्ट तीन प्रकार से वाणी से तिरस्कृत शब्द बोल देना हिंसा है शरीर से तो हिंसा है ही है वाणी से भी हिंसा मन से भी अनिष्ट सोचना हिंसा है यह नहीं कि शरीर मात्र से हिंसा होती है ऐसा नहीं है वाणी से भी हिंसा होती है उसके मन में चोट पहुंचा देना हिंसा है और मन से भी अनिष्ट सोचना हिंसा है ठीक है यश्च एनम अभिदासती जो इस व्यक्ति को जो उपासक है प्राण मुख्य प्राण दृष्टि से उपासना कर रहा होता है उसको उसको हिंसा करने की इच्छा रखता है हिंसा करता है स यशो अस्मा करना कि ये पत्थर जैसा है जैसे पत्थर को कोई बिगाड़ नहीं सकता मिट्टी का डेला आदि वैसे ये जो उपासक पत्थर के स्थान पर हो गया है इतना मजबूत होकर बैठा हुआ है मुख्य प्राण के साथ है अस्मा खाना है जिसको कोई वहां से हिला चला नहीं सकता ऐसा कहा ठीक है कहते हैं दृष्टांत अध्यम सिद्धम अर्थम निगमाई दृष्टांत दिया था पत्थर का और मिट्टी का ढेले का और सिद्धांत यहां है मुख्य प्राण और उसके उसके साथ जो गलत सोचने वाले स्थिति गलत काम करने वाले गलत सोचने वाले यह सिद्धांत में है दृष्टांत और दाष्टान्त के द्वारा सिद्ध अर्थ करते एवं इत्यादि में कहा एवं विशुद्ध मुख्य प्राण विशुद्ध है उसमें कोई आसक्ति नहीं है विशुद्ध है विशुद्ध असुर अदर्शित असुरों के द्वारा पराजित नहीं हुआ है असुर स्वयं नष्ट हो गए उसको नाश करने की इच्छा से आए थे पाप से वेदित करने की इच्छा से आए हुए असुर लोग स्वयं नष्ट हो गए जैसे मिट्टी का ढेरा पत्थर के लिए कुछ बिगाड़ नहीं सकता कुछ बिगाड़ नहीं सके एवं विशुद्ध प्राण ये प्राण विशुद्ध है क्यों असुर अधर्षित असुरों के द्वारा दबाया नहीं जा सका उसको हाँ। पाप से वेदित नहीं किया जा सका इसी कारण से वो विशुद्ध है विशुद्ध क्यों है असुर अधर्षित बोल दिया असुरों के द्वारा पराजित नहीं हो दूसरे के द्वारा जीता नहीं गया इसलिए वो विशुद्ध है प्राण एवं विधा प्राणभूत से इदम फलम इस प्रकार प्राणभूत हो गया क्योंकि प्राणोपासक प्राण रूपी हो जाता है क्योंकि वही भावना से उपासना करता है करते करते उसकी भावना वही बनी हुई है माने प्राणी ये शरीर प्राण नहीं बनेगा किंतु उसकी भावना प्राणमय होती है प्राणोपासक प्राणमय हो जाता है यम यथा यथा उपासते तम तथा भवती है ना मुदगलोपनिषद में तम यथा यथा उपासते तथा भवती जैसे जैसे उपासना करता है वैसे हो जाता है एवं विधा प्राणात्म भूत से इस प्रकार के व्यक्ति है जो प्राण स्वरूप हो चुका है भावना से ऐसे व्यक्ति एकदम फल इस प्रकार का फल है क्या फल होगा यथा असमान इत्यादि कहा यथा असमानम आक्रमित्व विध्वंस थे जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर को प्राप्त करके नष्ट हो जाता स्वयं पत्थर को नहीं बिगाड़ सकता एवं इसी प्रकार एवं है एवं स विध्वंस वो व्यक्ति वैसे नाश होगा उसका वो व्यक्ति का किसका यह एवं विधि पापम काम जो व्यक्ति इसके लिए कुछ अनिष्ट की कामना करता हो इच्छा करता हो अथवा और जो व्यक्ति इसके लिए हिंसा करने की इच्छा करता हो हिंसा करता हो उसी प्रकार नाश होगा जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर को पराजित करने के लिए जाता है स्वयं नष्ट हो जाता है ये सो अस्मा कारण क्योंकि मजबूत पत्थर जैसा हो चुका है ये जैसे तो दृढ़ हो गया प्राण भाव में ऐसा कहा यथा असमान विधि इत्यादि ऐसा एवं दृष्टांत ये यह दृष्टांत है एवं हा एवं सब विध्वंस विनश्यति इस प्रकार वो व्यक्ति का नाश हो जाता है वो सब इत्या कौन है वो नाश होने वाला कहा यह एवं विधि यथोक्त प्राण विधि एवं विधि का था यथोक्त प्राण विधि यथोक्त उपास पापम तद अनर्म कर तुम काम पाप कर्म उसके लिए अयोग्य करना चाहता हो काम मैंने इच्छति कहा तो है का अर्थ इच्छा की इच्छा करता है और दूसरा व्यक्ति यश चाहती दूसरा एरम इस प्राणोपासक को अविदासती मन हिंसती हिनस्ती मारना चाहता है प्राणविदम प्रति आक्रोश ताड़नादि प्रंगते माने क्रोश क्रोध करता है क्रोश आक्रोशित वचन बोलता है अथवा ताड़ना पिटाई आदि करता है यही हिंसा आएगा शारीरिक या वाणी वांछित हिंसा करता है प्रयोग करता है तो सो भी एवं एवं विध्वंस वो भी ऐसे नाश हो रहा है माना उसके प्रति जो पाप अनिष्ट सोचता है उसके भी नाश होना है और जो अनिष्ट करता है उसके भी नाश होगा दोनों के नाश होगा एक जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर को ना जाता है तो स्वयं नष्ट होता है उसी प्रकार इस प्राणोपासक की स्थिति ये बताया क्यों तो कहते हैं क्यों वो उसके अनिष्ट करने वाले का नाश होगा कहते हैं यशमात सा ये सा यही जो मुख्य प्राण है प्राणविद ये समाने प्राणविद जो प्राण का उपासक है ये प्राणभूतत्व प्राण स्वरूप हो चुका है प्राण उपासना करते करते प्राण रूप हुआ है उसकी भावना में है वो ऐसी भावना उसकी बनी हुई है तो प्राणभूतत्व अस्माकण अवेद्य पत्थर जैसा है वो ऐसी स्थिति में बैठा है क्योंकि प्राण को कुछ नहीं कर सकता कोई अस्माकण इव अस्माकणा माने पत्थर तो नहीं पत्थर जैसा पत्थर हो गया पत्थर तो नहीं हुआ ये माने इतना दृढ़ होकर बैठा हुआ ये अर्थ है माने अदर्शनीय अर्थ है माने उसको बिगाड़ा नहीं जा सकता जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर को नहीं बिगाड़ सकता उसी प्रकार इसके प्रति अनिष्ट करने वाला इसके नहीं बिगाड़ सकते इसमें तात्पर्य पत्थर तो नहीं बनता ये अस्माखण इव अस्माखण कहा अस्माखण तो वास्तव में नहीं है अस्माखण जैसा हो गया कोई बिगाड़ नहीं सकता इसका अदर्शनीय इत्यर्थ पराजित नहीं कर सकता कोई इसका उपासक का फल ऐसा मिला आए कहते हैं शंका होती आगे ना नो नासिकियों की प्राणो वायु आत्मा देखो ये वायु रूप है दोनों नासिका वाला प्राण को तो पाप में वेदित कर दिया असुर ने पाप के माध्यम से वेदन कर दिया और इसको वेदन क्यों नहीं किया वो ये भी वायु वो भी वायु ये भी वायु है वो वायु है यही पूर्वाधिक की शंका है ना नो नासिकियों भी प्राणो वायु आत्मा वायु रूपी तो है वो भी वायु है और ये मुख्य प्राण भी वायु है यथा मुख्य जैसे मुख्य वायु है उसी प्रकार नासिका में होने वाला प्राण भी वायु है नासिक प्राण वायु यथा मुख्य जैसे मुख्य प्राण वायु है या अध्यात्म वायु में आते हैं दोनों तो मुख्य तत्र नासिक प्राण पापना विद्ध प्राण एवसन मुख्य न मुख्य कथम ये उसमें नासिक प्राण तो पाप के द्वारा वेदित द्वारा वायु होते हुए और ये भी वायु होते हुए तो क्यों वेदित नहीं होता है ये शंका है जब वो वेदित हो तो ये भी वेदित हो ये वेदित नहीं होता तो वो भी ना हो अब पाप के द्वारा वो वेदित हो जाता है नाशिक के प्राण वायु रूप है एक ही अध्यात्म वायु है दोनों तो नाशिक के प्राण वेदित होना और मुख्य प्राण वेदित नहीं होना क्या कारण है ये शंका है न नासिक को भी प्राण हो वायु आत्मा हाँ, वायु स्वरूप है वो आत्मा माने स्वरूप वायु रूप है वो यथा मुख्य जैसे मुख्य वायु रूप है इसी प्रकार तत्र उस स्थिति में नाशिक प्राण पापना विद्ध नासिक प्राण तो पाप से व्यतीत हो गया कहना और प्राण एवं सन ये भी प्राण होता हुआ प्राण होता हुआ विदा न मुख्य प्राण होता हुआ ये तो व्यतीत हो गया नासिक के वाला और ये मैं कैसा ये शंका है तो कहा नहीं दोष दोष नहीं इसमें क्यों दोष नहीं है नासिक के स्तु थान करण वैगुना विद्या थान रूपी जो करण है उस जहां बैठा हुआ है हाँ, उसके जो घ्राण इंद्रिय है ना थान हाँ, इसलिए वो दूषित होने के कारण वो भी दूषित है थान से भी व्यक्ति दूषित हो जाता है अपवित्र जगह में बैठने से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है थान से दूषित हो गया नहीं तो वायु समान है ये कहते हैं नासिक के प्राण नासिक के स्तु थान करण वैगुण्या विद्ध थान रूपी जो करण है प्राण घ्राण वो विगुण होने के कारण विद्ध हो गया नासिक प्राण विद्ध आत्मा भी सन वायु होता हुआ भी और मुख्य स्थान देवता बलि स्वाद इसके मुख्य के स्थान देवता बलि बलवान है स्थान मुख्य स्थान है यहां चलने वाला है और देवता अधिदेव वायु है और उसकी देवता अश्विनी कुमार है नासिक के प्राण की देवता अश्विनी कुमार है और इसके जो देवता है मुख्य वायु है वायु देवता है मुख्य प्राण का स्थान और देवता का बलवान बलि बलवान होने से न विद्ध इति उत्तम इसलिए विद्युत नहीं होता यही युक्त है एक न विद्ध टिप्पणी कार कहते हैं न विद्य यदि अनंतरम तद असंभवाद कहते हैं वो असंभव विद्य होना असंभव है इति पाठ पतिता इति टीका दो अवगम्य थे ऐसा पाठ होता हो था ऐसा लगता है हाँ, तद असंभवाद इति पाठ होना चाहिए यहाँ पतिता इति पाठ खलित हो गया ऐसा लगता है टीका से ऐसा जाना जाता है ऐसा पाठ रहा है किंतु खलित हो गया टीका से ऐसा पता लगता है इसका मैंने थान करने की व्यवस्था से ऐसे हो गई यथा देखो दृष्टांत से समझाते हैं थान विशेष में जाने पर व्यक्ति विशेष हो जाता है थान विशेष में व्यक्ति कुछ काम नहीं कर सकता ऐसा देखा है एक वसूला होता है लकड़ी छीलने का काम करे किंतु शिक्षित व्यक्ति के पास जाने पर उसे बहुत अच्छे अच्छे लकड़ी निकल जाती है और अशिक्षित व्यक्ति के पास जाने पर गलत हो जाता है वो थान कर्म जैसी है ये दिखाते हैं यथा बाश्या रहेगा जैसे वसूला आदि हैं लकड़ी छीलने के काम करते हैं शिक्षावत पुरुषाश्रय जो शिक्षावान पुरुष होगा उसमें आश्रित जब हो जाते हैं बसुला आदि शिक्षावान व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति के द्वारा पकड़ा हो तो कार्य विशेष हम विशेष कार्य करते हैं बसुला आदि अच्छा और नान्य हस्तगता गता अन्य के हाथ में जाने पर विशेष कार्य नहीं कर सकते वही वसुला आदि जो होते हैं औजार जितने भी होते हैं शिक्षित व्यक्ति के पास जाने पर विशेष कार्य कर जाते हैं वो और अशिक्षित व्यक्ति के पास जाने पर कर नहीं पाते वो काम बिगाड़ेंगे वो ठीक इसी प्रकार यहां भी एक उनके स्थान की महिमा है और उसके अधिष्ठात्री देवता का महिमा है ये कहा नान्य हस्तगता तत्दोषवत घ्राण सचिवत्वाद यहां क्या है यहां घ्राण उसके सहयोगी बना हुआ है जो नासिक के प्राण का सहयोगी घ्राण है वो दूषित हो रहा है वो दूषित होने से ये प्राण भी दूषित होता है उसके जो कर्म देवता है वहां बैठा हुआ है वो वो दूषित होने से भी दूषित है वहां पाप से वेदित है वो ग्रहण इसलिए ये भी दूषित हो गया ये कहा तद दोषवत्वाद कहा इसलिए उस दोषवान होने से थान कर्म देवता जो दूषित होने से घ्राण सजीवत्वाद ग्रहण सजीव है इसका सहयोगी है नाशी के प्राण के सहयोगी घ्राण इंद्रिय है विद्धा घ्राण देवता न मुख्य इसलिए ग्रहण देवता तो हो गया विद्ध हो गया मुख्य प्राण वेदित नहीं होता ऐसा बताया टीका प्राण से विशुद्धत्व तद उपासन कर्तव्य विशेष ये जो एवं विशुद्धो असुदैर तत्व प्राण इति यह दिया इसके आगे इतना पंक्ति शेष है कहते हैं प्राण से विशुद्धत्व प्राण विशुद्ध है होने से तद उपासना कर्तव्य उसकी उपासना करनी चाहिए यही यहां इस प्रकरण का तात्पर्य है विशेष शेष लगाना कहा भाष्य में इतना शेष लगा देना कहा प्राण से विशुद्धत्वाद तद उपासना कर्तव्यम उसकी उपासना करनी चाहिए फलवचनम अवतारी व्याकुर की फल वाक्य को ला करके व्याख्या करते हैं फल दिखाया है हाँ, फल क्या होगा इसके लिए जो अनिष्ट इच्छा करता है वो स्वयं नष्ट होता है और जो इसको हिंसा करता है उसका स्वयं का नाश हो जाता है ऐसा फल है स्वयं नाश होना उसके देखा है एक कहते हैं एवं विदा इत्यादि कहा था एवं विदा प्राणात्म भूत से एकदम फल महा इस प्रकार की जो प्राण स्वरूप हो गया है उसका इस प्रकार का फल कहता है श्रुति कहती है यथा असमानम इत्यादि कहा था यथा आसमानम आक्रमित विध्वंसता दृष्टांत दिया जिस प्रकार मिट्टी का ढेला पत्थर को नाश करने की दृष्टि से जाता है स्वयं नष्ट हो जाता है इसी प्रकार प्राण उपासक जो बना हुआ है प्राण रूप होकर बैठा हुआ है उसके लिए कोई अनिष्ट करने आएगा तो वही नष्ट हो जाता है ये दृष्टांत है ऐसा एक दृष्टांत है ये दृष्टांत है ये बता दिया एवं है वह सब विद्वंस विनसिद्धि इत्यादि कहा था टीका में कहते हैं प्राणवित प्रतिस्पर्धिनो विनाशे हेतु महा प्राणवेत्ता का जो शत्रु है प्रतिस्पर्धी है शत्रु है उसके विनाश में कारण बतलाते हैं प्रतिस्पर्धी बात है शत्रु प्राणवेत्ता जो होगा प्राण उपासक यहाँ प्राणविद या प्राण को जानने वाला नहीं प्राण की उपासना करने वाला व्यक्ति है उसके जो प्रतिपर्धी होगा शत्रु होगा उसके विनाश में हेतु बताते हैं यस्मात इत्यादि में कहा क्यों वो विनाश होता है तो कहा यस्मात ये प्राणविद प्राणभूतत्वाद ये प्राणवेत्ता जो है प्राण के उपासक प्राण स्वरूप हो चुका है जिसलिए अस्माखण युव अस्माखण पत्थर जैसा हो गया है पत्थर को कोई बिगाड़ नहीं सकता मिट्टी का ढेला वैसे इसको भी कोई बिगाड़ नहीं सकता पत्थर तो नहीं बना पत्थर जैसा हो गया है मिट्टी के ढेले के लिए जैसे पत्थर वैसे ये बन चुका है शत्रु के लिए ठीक है नासिक के प्राण से मुख्य प्राण से वायु विकार ये दोनों के दोनों अपंजीकृत वायु का विकार है वायु का विकार है अपंचीकृत अवस्था के वायु को विकार करके पंचीकृत अवस्था के वायु है ये चाहे नासिक के प्राण हो चाहे मुख्य प्राण हो दोनों प्राण वायु का विकार है अपंचीकृत वायु के विकार ये थूल वायु है ना अपचीकृत वायु का विकार है समझती है नासिक प्राण से मुख्य प्राण से जब वायु विकार वायु का विकार होने से प्राणत्व विशेषा दोनों ही प्राणी तो है ही है वायु है वायु है प्राण तो वो प्राण है प्राणत्व विशेषा प्राणत्व विशेष होने से पापना वेदा वेदो तुल्य व्यवहार पाप के द्वारा ये वेदित वो वेदित होता है तो ये भी वेदित होना चाहिए ये ये अवेदित होता है तो वो भी अवेदित होना चाहिए वही वायु है एक वेदित होना एक अवेदित होना क्या मतलब हुआ ये शंका है नासिक के प्राण से मुख्य प्राण से वायु विकार दोनों के दोनों वायु का विकार है अपचीकृत अवस्था के पंचभूतों के वायु का विकार है विकार होने से प्राणत्व विशेषा दोनों प्राण अभिशेष समान है प्राण है दोनों तो पापना वेदा वेदो तुल्य व्यवसायताम पाप के द्वारा जो वेदित होना है तुल्य होना चाहिए बराबर होना चाहिए या तो वो वेदित होता है तो ये भी वेदित हो ये वेदित नहीं होता तो वो भी वेदित न हो एक का वेदित बोलना एक को अवेदित बोलना ये कैसे ये शंका है ये शंका करता है ननु करके भाष्य में शंका उठाई ननु नासिक को भी प्राणो वायु आत्मा यथा मुख्य जैसे मुख्य प्राण वायु रूप है वैसे नासिक के प्राण भी वायु रूप है तत्र उस स्थिति में नासिक प्राण पापना विद्ध प्राण एवं सन प्राण होता हुआ नासिक के प्राण नासिका में होने वाला प्राण पाप से वेदित होना और न मुख्य और मुख्य प्राण पाप से वेदित होने कैसे ये शंका है ठीक में उत्तर देंगे उत्तर ये देते हैं टीका में कहा थान विशेष संबंध असंबंधाभ्याम थान विशेष की संबंध और असंबंध है नासिक के प्राण में थान विशेष का संबंध है थान दूषित है इसलिए वो दूषित हो गए और मुख्य प्राण में थान शुद्ध है इसलिए वो शुद्ध है ये कहना चाहते हैं थान विशेष संबंध असंबंधाभ्याम थान विशेष के साथ संबंध और असंबंध ये दोनों के कारण से द्वयोरपी पापम भेदा भेद हो दोनों में एक में पापम भेद एक में पापम अभेद थान विशेष के कारण पाप से वेदित हो रहा है नैशिक वाला और थान विशेष के कारण यहाँ अवेदित हो रहा है थान की महिमा हो जाती है कैसे देखा वसूला आदि भी देखा है थान विशेष जाने पर अच्छा काम करता है वो अच्छे व्यक्ति के हाथ में जाने पर अच्छा काम करेगा वही और जो नहीं जानता चलाना उसके हाथ में दूसरे कर देगा थान विशेष का महिमा हो जाती है ये कहना चाहते हैं युक्ता तो परिहरती कहा ये कहा थान द्वयोरपी द्वयोरपी पाप वेदा वेद व्यवस्था युक्ता ये ठीक है कहना ये परिहर विखंडन करते हैं नैश दोष इत्यादि कहा तो भाष्य में कहा था स्तु थान और कर्ण वैगुण्य थान रूपी जो कर्ण है ना घाण वो विगुण होने से थान कर्ण वैगुण्यात विद्धो वायुआत्मा भी सन कहा वायु रूप होने पर भी विद्ध हो गया पाप से और मुख्य स्थान देवता बलि स्वाद न विद्या उत्तम मुख्य प्राण थान का थान और देवता बलवान है उसका थान बलवान है देवता बलवान है इसलिए न कहा ठीक है थाना अवस्थावच्छिन्ने करणे वैगुण्यम थान और अवस्था दो के द्वारा विशिष्ट हो थान में भी कभी कभी किसी अवस्था में अच्छा काम भी कर जाए किसी अवस्था में नहीं आता अवस्था भी कारण है सहयोगी हो जाता है अवस्था विशेष में कोई व्यक्ति गलत काम कर जाता है अवस्था विशेष में अच्छा काम भी कर जाता है थान और अवस्था दो थान अवस्था अवच्छिन्न विशिष्ट जो कारण है थान अवस्था विशिष्ट कारण है वैगुण्यम विषय सतत्व स्थान विशेष अवस्था विशेष होने के कारण जो नासिक के प्राण है उसमें इस कारण में वैगुण्य आ गया है विषय विशेष विषय विशेष में आसक्ति है जो सुनने का काम है ना वो तो मेरा ही काम है यद्यपि सारे के मिल करके गंध ग्रहण करने का काम होता है एक से कोई काम कभी भी नहीं होता है इस कहानी से एक और भी समझना चाहिए व्यक्ति को मैं ही करता हूं ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए कोई भी काम कोई भी काम करने के लिए पांच व्यक्ति तो अवश्य होंगे होंगे गीता अष्टादश अध्याय में कहा है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम तथा पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवम चाहिए बात पंचम तत्र एवं सतिकर्तारम आत्मान केवलम तुय पश्य प्रकृति बुद्धि न सपश्यत दुर्मणि गाली दिया वहां पांच व्यक्ति तो अवश्य होते ही हैं कहीं बैठ करके कार्य करेगा अधिष्ठान या शरीर में बैठ के करेगा अध्यात्म में जाता हो तो जो काम करता है शरीर में बैठ के करता है और व्यावहारिक जगत में होगा तो पृथ्वी आदि में कहीं बैठ के काम करेगा अधिष्ठान चाहिए व्यावहारिक जगत में है या अध्यात्म में है अध्यात्म में कोई काम करेगा तो यहाँ भूमि में नहीं बैठा शरीर में होगा वो शरीर को घर मान करके बैठा हुआ होगा वो वहां अपना कार्य करेगा अधिष्ठान जरूर चाहिए कहीं बैठ के तो काम करेगा कोई भी कार्य शुभाशुभ काम करने के लिए अधिष्ठान चाहिए और करने वाला व्यक्ति की भी जरूरत होगी कर्ता उस काम को करने वाला व्यक्ति और करणम तो पृथक विधम नाना प्रकार के इंद्रिया कौन सी इंद्रियों के माध्यम से वो काम करना है एक ही इंद्रिय नहीं है तब तक काम के लिए भिन्न भिन्न इंद्रियों का प्रयोग देखने का प्रसंग हम चक्षु का सहारा लेंगे सुनने का प्रसंग हो तो श्रोत्र का सहारा लेंगे भिन्न भिन्न इंद्रियों के काम करना होता है चलने का प्रसंग हो तो पैर का सहारा लेंगे भिन्न भिन्न इंद्रियों का हाँ, इंद्रिय अधिष्ठान तथा कर्ता कर्म च पृथक विधम विविधार्थ पृथक से इंद्रियों के व्यापार भी भिन्न भिन्न होंगे कौन से व्यापार करना है किस काम की सिद्धि के लिए एक ही व्यापार से काम नहीं होना है और अधिष्ठात्री देवता भी उसमें सहयोगी होंगे इंद्रियों के जो अधिष्ठात्री देवता होते हैं दैवम चैवात्र पंचम ये पांच कारण होते हैं तत्र एवं सतिकर्तारम आत्मान केवल ऐसे पांच होते हुए तो केवल आत्मा को ही जो करता मानता हूं मैं ही करता हूं ऐसा मानता हूं पश्चात अकृत बुद्धि तो आत्मा वो अकृत बुद्धि है उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है इसलिए ऐसा देखता है मैं ही करता हूं देखता है किंतु न नशा दुर्मति वास्तव में देखता नहीं वो दुर्मति है वो सुमति नहीं दुर्मति है ऐसा गीता अष्टाध्याय कहा यहां भी यही कहना चाहते हैं <clears throat> थान अवस्था अवस्थावच्छिन्न करणे वैगुण्यम विषय विशेषाशक्तत्व विषय विशेष में आसक्त है इसकी नासिका को नासिका में रहने वाले जो प्राण है उसको आसक्त घ्राण को आसक्ति है गंध ग्रहण का जो कौशल्य है वो मेरा ही है गंध ग्रहण के द्वारा होने वाला जो अच्छी बात है वो मेरे ही कारण सबको मिलता है सौभाग्य मेरे कारण ही है ऐसा नहीं सभी उपयोगी हैं शरीर न हो तो इंद्रिय कहां बैठ के देखेगी सूंघेगी गंध शरीर चाहिए अन्य इंद्रियों की जरूरत है वहां पुष्प तोड़ने वाला भी चाहिए होगा सूंघने के लिए सामने लाने वाला भी जरूरत होगा ये तो जा नहीं सकती वहां यही लाना पड़ेगा गंध के लिए अथवा वायु उड़ा के लाएगा वायु भी उसके लिए सहयोगी होगा कुछ नहीं देखना मैं ही करता हूं एक बात है ये कहा थान और अवस्था अवच्छिन्न कर गए थान और अवस्था विशिष्ट जो अवच्छिन्न माने विशिष्ट थान अवस्था विशिष्ट जो कारण है वैगुण्य मुश्किल विगुणता है विषय विशेष वैगुण्य क्या विषय विशेष में आसक्ति उसकी हाँ। गंध कर्म करने का स्त्री है तो बेरा ही है और किसी के द्वारा नहीं कितने व्यक्ति का सहयोग है वहां काम करने उसको गंध कराने के लिए किसी का नहीं मैं मेरा ही श्रेय है ये ऐसा मानना या आसक्ति इसी के कारण वो पाप दे भी कर जाते उसको आसक्ति विशेष आसक्ति है वहां तस्मात तदरूप से नासिक के प्राण से विद्यता इसलिए वो जो नासिक के प्राण है आसक्ति के कारण भेदित हो जाती है असुरलोक आसुर वृत्ति उसको दबोच डालती है जिसको अभिमान आ जाए आसुर वृत्ति दबोचेगी उसको विद्यता शादी यावत कहा तद असंभवात मुख्य प्राण में कोई घमंड नहीं कोई आसक्ति नहीं कोई आसक्त नहीं करता वो तद असंभा विशेष संबंध प्रयुक्त वैगुण्य अयोगा विशेष संबंध के कारण आने वाला जो वैगुण्य था वो नहीं है वहां विशेष संबंध से स्थान करण आदि के विशेष संबंध के कारण से वैगुण्य आता था वो वैगुण्य का अभाव है मुख्य प्राण में इसलिए मुख्य प्राण में ये है कोई वो नहीं है पाप से वेदित नहीं होता यह आता है युक्तम उपन्नम ये जो कहा ठीक हो गया ये कहा वहां भाष्य में युक्तम था न विद्या युक्तम युक्तम का था सिद्ध हो जाता है ऐसा स्थान संबंध विशेषात ग्रहण प्राण से पाप विदत्व तद अभावाच मुख्य प्राण से तद अविदत्व इत्यत दृष्टान्त न स्पष्ट स्थान संबंध विशेष होने के कारण से स्थान है नाशी का स्थान है उसके स्थान विशेष संबंध होने से ग्रहण रूपी प्राण है जो उसका पाप के द्वारा भेदित हो जाना तद अभावाच स्थान विशेष के साथ संबंध न होने के कारण मुख्य प्राण का मुख्य प्राण से तद अविदत्व माने पाप से विद्यता न होना ये दोनों ये दृष्टान्त के द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं ऐसे कहा यथा इत्यादि कहा एक दृष्टांत यथा है जैसे वसूल आदि औजार आदि चलाने वाला व्यक्ति के हाथ में है अच्छे व्यक्ति के हाथ में पड़े तो अच्छा काम कर जाएंगे औजार और गलत व्यक्ति के हाथ में जाए तो गलत काम कर देंगे ये स्थिति है वही औजार उस तरह है अच्छे आदमी के हाथ में जाए तो बाल काट देगा और गलत आदमी का था तो हाथ काट देगा ऐसी स्थिति है औजारों का दृष्टान दिया यथा बाष्यादय जैसे वसुला आदि बाष्य माने वसुला को बाष्य बोलते हैं संस्कृत में बाष्यादय वसुला आदि शिक्षावत पुरुषाश्रय जो शिक्षावान पुरुष में आश्रित हो यदि शिक्षावत पुरुषो आश्रय ऐसा बाष्पालय हाँ, ये बाष्पालय के बहुबरी समास करना शिक्षा वाली शिक्षित पुरुष में आश्रित हो जब तब क्या करते हैं कार्य विशेष कुरबंती बाष्यादय अच्छे काम कर जाते हैं विशेष काम करते हैं ये नान्य हस्तगता अन्य के हाथ में जाने पर विशेष काम नहीं कर सकते भाष्यादि ये बता तदवत वैसे ही यहां भी समझना दोषवत घ्राण सचिवत्व दोष के सहित घ्राण सहयोगी है वहां दोष वाला जो घ्राण सहयोगी होने से नासिक के प्राण पाप से व्यतीत हो जाता है सचिव है वो घ्राण वहां सचिव बना हुआ सहयोगी है उसका नासिक के प्राण का घ्राण देवता व्यतीत हो जाता है न मुख्य मुख्य प्राण में कोई दोष वाला सहयोगी नहीं है इसलिए वेदित नहीं होता ये अर्थ है कहा ठीक है न मुख्य दोषवत घ्राण सजीवत्व अभावाद कहा मुख्य प्राण दोष वाला नहीं क्यों घ्राण सजीव नहीं है उसके पास सहयोगी घ्राण इंद्रिय नहीं है उसके पास इसलिए दोष वाला नहीं है ऐसा कहा तो दोष वाला कैसा नहीं है तो कहते हैं देखो वो उसको दोष युक्त होने के कारण नासिक प्राण को दुर्गंध सूंघना पड़ता है किंतु तो मुख्य प्राण को दुर्गंध नहीं होता दुर्गंध सुनने नहीं पड़ते उसको वो नहीं जानता दुर्गंध कोई भी व्यक्ति मुख्य प्राण से दुर्गंध नहीं जानता मुख्य प्राण तो सुश्रुति को भी चलता है ना नासिक के प्राण नहीं रहेगा उस स्थिति में गुलाब के पुष्प सामने करे उसको पता नहीं लगता अथवा कोई दुर्गंधी पदार्थ रखते तब पता नहीं लगता नहीं जानता मुख्य प्राण मुख्य प्राण के द्वारा नहीं जानता ये बोलते हैं मंत्र है

उत्क्रामती याददातीव अन्तता इति नैवैतेन सुरवीण दुर्गन्धिविजानाति अपहतपाप्मा हि एष तेन यदस्नाति यत्पिबति तेन इतरान् प्राणान् अवति अंत एव अंततो अभित्वोत्क्रामति सुरभि न दुर्गंधि विजानाति लोक लोक या कर्ता होगा लोक एतेन इस मुख्य प्राण के द्वारा एतेन नैव सुरभि न दुर्गंधि विजानती न सुरभि जानाती न दुर्गंधि जानाती विजानाती दुर्गंधि सुगंधि जानने वाला नासिक प्राण के द्वारा होता है मुख्य प्राण के द्वारा नहीं होता जो सुसुप्त अवस्था में नासिक प्राण का अभाव है सुगंधि दुर्गंधि कुछ पता नहीं लगता मुख्य प्राण तो होता है उसका यदि मुख्य प्राण भी चला जाए तो राम नाम सत्य हो जाएगा उड़ते उड़ते तो और ही काम हो जाएगा उसका जलते जलते तो और काम हो जाएगा मुख्य प्राण रहता है हाँ उसके लिए पता नहीं लगता प्राण है कि नहीं है किंतु दूसरे को पता लगता है जो तो सुसुप्ति में गया हुआ व्यक्ति के लिए तो मुख्य प्राण भी नहीं है उसके दृष्टि से नहीं है तो अन्य की दृष्टि में है यदि अन्य की दृष्टि में मुख्य प्राण न हो तब तो, ले जाते उसको और ही कर देते कुछ नहीं बस नहीं एते ना मानी मुख्य प्राण है ना सूरभि न दुर्गंधि भी जानाती ना सुगंधि थी ना दुर्गंधि थी लोग लोग नहीं जानते सुगंधि दुर्गेश के द्वारा वो तो नौसी के प्राण के द्वारा ही जानते हैं क्यों अपहत पापमा ही ऐसा ये आसक्ति रहित है आसक्ति रूप पाप से रहित है इसमें कोई आसक्ति नहीं है ये श्रेय मेरा ही है ऐसा काम करने का श्रेय मेरा ऐसा घमंड कभी नहीं करता अहंकार कभी नहीं करता इसलिए पूज्य होता है जो अहंकारी नहीं होता वो पूज्य होगा लोक में जो अहंकारी होगा वो गिरा देंगे शत्रु बैठे होंगे उसको गिराने वाले आएंगे इन कहानियों से समझना चाहिए वो अपहत पापमा ही ऐसा ये जो मुख्य प्राण है अपहत पापमा है आसक्ति रहित है पाप से वेदित नहीं होता इसका पाप नहीं तेना यद स्नाति यद पिबती लोग इस मुख्य प्राण के द्वारा जो खाते पीते हैं लोग खाते हैं पीते हैं मुख्य प्राण के माध्यम से तेना इतरान प्राणान अवती इसी इसी के माध्यम से खाए हुए अन्न जल के द्वारा अन्य इंद्रियों की रक्षा करते हैं उनकी पुष्टि होती है अगर मुख्य प्राण में खाना पीना बंद हो जाए तो ये सब नष्ट हो जाएंगे इंद्रिया इंद्रिय की शक्ति समाप्त हो जाएगी अभी पता लगने वाला है अच्छा, कैसे तथा एतम एवं अंत तो अभिद्वा उत्क्रांति इसी मुख्य प्राण को अंतिम में प्राप्त न करके अभिद्वा विद्रिलाभे धातु है प्राप्त न करके अंतिम अवस्था में जो प्राप्त नहीं करते ये इंद्रिय समुदाय उत्क्रांति इंद्रिय समुदाय निकल जाती है इस मुख्य प्राण को प्राप्त न करके इसकी वृत्ति को प्राप्त न करके इसकी वृत्ति है अन्नपान करना वो अन्नपान करना छोड़ देता है मुख्य प्राण अंतिम समय में छोड़ देता है तो ये ये भी निकल जाते हैं सारे इंद्रिया निकल जाती है उत्क्रांत हाँ। भी कहा आदि एवं अंतत ही अंतिम समय में इनकी भूख प्यास होती है इंद्रियों की खाना पीना चाहते हैं अपने विषय चाहते हैं इसलिए मुख फाड़ देते हैं ये खिला दो कोई मुख्य प्राण नहीं ले रहा है इसलिए खा नहीं पा रहे हो उनके खाने का साधन था मुख्य प्राण के माध्यम से खाते थे मुख्य प्राण निकलने की तैयारी में बैठा हुआ है उसने खाना पीना छोड़ दिया ये भूखे प्यासे छटपटा रहे हैं इसलिए मुख फाड़ता है अंतिम समय व्यक्ति मुख खुला करता है माने इंद्रिया मांग रही विषय वहां ऐसा संकेत करता है मुख फाड़ना ये बोल रहे हैं व्याधतादि एवं अंततः इति अंतिम समय मुख फाड़ता है व्यक्ति मरणासन व्यक्ति मुख फाड़ देता है ये इंद्रियों के छटपड़ाने के चर मराने के भूख प्यास से पीड़ित होने के सूचित है सूचित करता है मुख फाड़ना ये कहा भाष्य टीका से पता हो जाएगा पूरा ठीक है कहते हैं घ्राण देवता विद्धा प्राण देवता तो न विद्धा इत्यत्र गमकत्व न अनंतर वाक्य में चढ़ेगा घ्राण देवता मन नाशिक प्राण वेदित हो जाए तो पाप के द्वारा उसमें आसक्ति है गंध ग्रहण करने का श्रेय मेरा ही है मैंने बहुत लोगों के सहारे से उसको गंध ग्रहण करने मिल रहा है यहां तक गुलाब की डाली भी काम आ रही गुलाब का पुष्प भी होता तभी गंध ग्रहण कर रहा हो वो भी सहयोगी है वो नहीं तो क्या गंध ग्रहण करेगा और दंडकरण करने वाला व्यक्ति में जो जो साधन होंगे सब काम करे देख रहा है देख सुन रहा है सब सब काम कर रहे हैं वहां किंतु मेरा ही काम है ये सब कहना ये गलत है यही पाप से व्यतीत हो जाना है घ्राण देवता विद्धा नासिक के प्राण वेदित हो जाता है आसक्ति रूपी पाप के द्वारा असुर वेदित कर वेदन करते हैं प्राण देवता तो मुख्य प्राण वेदित नहीं होता इसमें दृष्टांत रूप से अनंतरम वाक्यम व्याचे आगे के वाक्य की व्याख्या करते हैं कहा भाष्य में कहा यस्मात न विद्धो जिससे कि वेदित नहीं हुआ मुख्य प्राण असुरही पापों के द्वारा क्यों इसमें आसक्ति नहीं है मुख्य प्राण में कोई आसक्ति नहीं अभिमान नहीं है यस्मात न विद्ध असुरैर मुख्य जो मुख्य प्राण है असुरों के द्वारा वेदित नहीं हुआ आसुरी वृत्ति इसको वेदित नहीं कर सकती तस्मात इसी कारण विद्ध नहीं हुआ इसलिए न एव एतेन सुरभि दुर्गंधि व विजानाती कोई भी व्यक्ति इस प्राण के द्वारा मुख्य प्राण के द्वारा सुगंधि दुर्गंधि का ज्ञान नहीं प्राप्त नहीं कर सका सुगंधि दुर्गंधि का ज्ञान प्राप्त तो होता था नासिक प्राण से प्राणेन्द्र से होता था इससे नहीं करता कोई ये बीजानादि का करता प्राण नहीं लोग कोई भी लोग नहीं कर सकता ऐसा घ्राणे नहीं होता तो वही बीजानादि लोग घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ये दोनों जानते हैं सुगंधि हो या दुर्गंधि हो दुर्गंध सुगंध का ज्ञान घ्राणेन्द्रिय से होता है घ्राणे नहीं घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ही तद उभयम जो सुरभि और दुर्गंधी है दोनों को बीजान का बीजान आती लोक जानता है बीजान आदि के करता लोक अतस्त इसी हेतु से पाप का कार्य अदर समाध पाप का कार्य नहीं देखा पाप से वेदित नहीं है मुख्य प्राण पाप में कार्य अदर्शनाथ अपहत पापमा इसलिए मुख्य प्राण अपहत पाप नष्ट हो गया पाप जिसका अपहत पापमा ऐसे अपहतो विनाशित अपहत माने विनाशित हो गया अपनीत हट गया पापमा यस्मात जिससे पाप हटा हुआ है उसको प्रश्न नहीं कर सकता पाप आसक्ति रूपी पाप नहीं कहा स्वयं अपथ पापमा इसी को कहा अपथ पापमा कहा ही यह सब विशुद्ध इत्यर्थ यह मुख्य प्राण विशुद्ध है इसमें कोई आसक्ति नहीं है ये विशुद्ध है अतिशुद्ध है ये कहा यस्माच आत्मम भरय कल्याणादि आसंगवत्वाद घृणादयो न तथा आत्म भरीर मुख्य ही सर्वार्थ एक देश भी दूसरा हित देते हैं ये सब के सब अपने पेट पालने वाले हैं आत्मम भरी हैं आत्मम विवर्तित आत्मम भरा अपना ही पालन पोषण करने वाले को आत्मम भर कहते हैं जो तो दूसरे के ख्याल नहीं रहता खाली अपने बंदर की तरह यहां से मिले यहां से मिले यही डालो आत्म भरी होते हैं फले ग्रही आत्म भरिष्य ऐसा सूत्र है फले ग्रही शब्द और आत्मभरी शब्द ये दोनों बनते हैं यह आत्मभरी का बहुवचन भरा हो जाता है फले ग्रही आत्मवरिष्ठ ऐसा सूत्र है तृतीय अध्याय में तो ये सब आए हैं माने अपना ही पोषण पाषण करना चाहते हैं नासिका को चक्षु का कोई ध्यान नहीं है रूप से कोई लेना देना नहीं चक्षु का विषय से लेना नहीं उसको तो गंध ही ग्रहण करना हमेशा बस हट लगा हुआ है और चक्षु को गंध से क्या लेना उसको रूप में मस्त है हमेशा परस्पर ऐसे विरोधी हैं आत्मा इतना परेशान है यहाँ रचना बोलती है मेरे को तो बस चखाते रहो देखने से मतलब नहीं सुनने से मतलब नहीं उसको क्या मतलब और ग्रहण से क्या मतलब गंध से नहीं चाटते रहो बस स्वाद ये चाहते श्रोत्र बोलेगा अरे बाबा सिनेमा असली आदि सुनाते रहो कुछ गलत गलत सुनाते रहो हाँ। उसको चक्षु के विषय से मतलब नहीं ग्रहण के विषय मतलब नहीं ऐसा है तो इंद्रिय बोलेगा बोले मुझे तो कोमल कोमल पर्स चाहिए और कोई लेन देन नहीं ऐसे विरोधी है ऐसी स्थिति है प्रहलाद जी ने प्रहलाद के जो नृसिंह स्तुति में कहा है हे भगवान मैं परेशान हुई इंद्रियों से ऐसा बोलते हैं जीव है कथोच्युत विकर्ष दिमा विधृप्ता शिष्टो न्यतत्वरम श्रवणम कुतश्चित ग्रहणोन्यतश्चपल दृक् कुछ कर्म शक्ति बहुत सपत्न युवक जेह पति मिलन हे भगवान जैसे बहुत पत्नियां जिसके पास हो उस घर की पुरुष की जो स्थिति होगी यानी परेशान कर जाती है वो ये लाओ वो ये लाओ बोलेगी परेशान करती है बहुत पत्नी वाला पुरुष की जो स्थिति होती है वो स्थिति मेरी है क्यों युवा एक तरफ बोल रही है मेरे को अच्छे अच्छे खिलाते रहो और कोई काम नहीं इसकी मांग ये है रसा स्वादन में बसता है युवा ही कथोच्युत हे अच्युत एक तरफ जीवा खींच रही है मां वितृप्ता इसको कितना खिलाया कितना खिलाया कभी तृप्त नहीं होती ऐसे वितृप्त है विरुद्ध तृप्त वितृप्त वितृप्त जीवा है मेरे पास अनंत जन्म से खिलाया तृप्ति नहीं है इसी जन्म में भी जन्म से लेकर के आज तक क्या खिलाते हैं तो कितना खिलाया होगा इसको घी भी तन मन हो गया होगा हाँ अन्न की तो बात छोड़ो थोड़ा थोड़ा देते हैं ना घी वो भी तनों से ऊपर हो गया होगा तृप्त नहीं है जीव ही का तो च्युत वितर सदीमा वितृप्ता हे अच्युत हे भगवान एक तरफ मुझे जीवा खींच रही है वितृप्त है कभी तृप्त होने वाली है शिष्टो नित शिष्ण इंद्रिय अपने तरफ है हाँ, शिष्टो नित चपल त्रिप को कर्म शक्ति ही और शिष्णो नित तो उदारम सर्वम कुत और तो इंद्रिय अपने विषय में मस्त है उसको जिगुआ के विषय से लेन देन नहीं है वो कोमल पर्श चाहती है तो शिष्णो जता तो पेट हमेशा तना रहना चाहता है इसके अलग स्वभाव है ढोलक के तरह कभी भी थोड़ा सा भीतर नहीं जाना चाहता बाहर खुला रहना चाहता है डालते रहो डालते रहो शिष्णो जता तो धर्म श्रवण पता श्रवण इंद्रिय और ही विषय में घुमा पड़ा हुआ है उसको सिनेमा असलिया आदि की बातें चाहिए खींच रही है मुझे वहां ले जाओ वहां ले जाओ बोलती है ग्राम ग्रामीण अन्य तरफ है उसको सुनने से मतलब है बाकी कोई मतलब ही नहीं है चपल दृष्टि चंचल दृष्टि की तो बात ही मत पूछो आप ये जो चंचल दृष्टि है इसकी तो बात ही मत पूछो अनेक विषयों में घुमाती रहती कुछ कर्म शक्ति कर्म इंद्रिया भी कम नहीं है अपने अपने विषय में खींच रही है हाथ बोलता है लेना देना करते रहो पैर बोलता है चलाते रहो वाणी बोलती है बोलती रहूं थकना ही नहीं कभी बोलती रहूं ऐसा बोलती तो सभी इंद्रिया मुझे वैसे परेशान करती है जैसे किसी के पास में बहु सब पत्नी पत्नी जैसे घर के मालिक को पति को एक किसी व्यक्ति के अनेक पत्नियां हो जो स्थिति उसकी होती हो वही स्थिति मेरी है प्रहलाद जी ऐसा बोलते हैं तो यहां भी वही स्थिति है ये कहना चाहते हैं ये कहा यस्मात आत्मन भरा यह ये सब ये सब आत्मन भरी है अपने पेट पालने वाले हैं सारे दूसरे के बारे में कोई ख्याल नहीं किसी को भी इंद्रिया सब ऐसे हैं पेट टू है सारे पेट टू है या आत्मा भरी है अपने स्वार्थ में भरपूर बैठे हुए हैं दूसरे की कोई सुनता नहीं ऐसी स्थिति में विरोधी है सारे आत्मन भरी है कल्याण आदि आसंग होता सब में कल्याण आदि आसंग आसक्ति है चक्षु को कल्याण सुंदर रूप देखेंगे श्रेय मेरा ही है ग्रहण इंद्रिय को है सुगंध सुगने का मेरा ही श्रेय है रसन इंद्रिय को अच्छा अच्छा स्वाद लेने के तो मेरा ही श्रेय है सबको स्वाद मिल रहा है मेरे कारण से मिल रहा है सबको गमन है आसक्ति है इसलिए पाप से व्यतीत हो जाता है इसलिए आत्म भरी होते हैं मान स्वार्थी है सारे है दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं यस्मात से आत्मम भरा जैसे आत्म भरी है सब कल्याण आदि आशंक बताओ क्यों आत्मभरी हो गए कल्याण आदि आसंग आसक्ति वाला होने से कहा ग्रहणादय ग्रहणादि आत्मन भरी है ये तो टू है दूसरे के बारे में सोच नहीं है न तथा आत्मभरी मुख्य मुख्य प्राण आत्मभरी नहीं है हाँ, और परपोषक है परोपकारी है हाँ, लोग उसके द्वारा जो खाते हैं मुख्य प्राण के द्वारा अन्न जल लेते हैं तो सब पुष्ट होते हैं इंद्रिया वो परोपकारी होता है वो आत्मभरी नहीं है न तथा आत्मभरी मुख्य कहा मुख्य प्राण आत्मभरी नहीं प्रश्न हुआ किम तरी फिर क्या है वो आत्मा बरी नहीं है तो कहा सर्वार्थ और सबके लिए है वो सभी इंद्रियों के लिए पोषक है वो उसी के द्वारा जो खाया पिया होता है उसी से सारे इंद्रिया पुष्ट होती है ऐसी स्थिति है माने न खाने पर न खाने पर क्या स्थिति थी इसी में आगे छठे अध्याय पता लग जाए छठी स्थिति थी दृष्टांत आ जाएगा पंद्रह दिन तक न खाने की क्या स्थिति हो गई थी उसकी फिर खाने लग गया तो इंद्रिया पुष्ट हो गई शून्य लग गया बोलने लग गया वो बोलना सुनना बंद हो गया था उसका ऐसी स्थिति आएगी वो तो सर्वार्थ है सबके लिए है कथम कैसे सर्वार्थ है उच्चते कहा कैसे सर्वार्थ है प्रश्न है उच्चते ग्रह से कहा तेन मुख्य न कहा तेन इतरान प्राणान अवति कहा तेन यद अस्नाति यद पिबती उस मुख्य प्राण के द्वारा लोग जो खाते पीते हैं खाता पीता है लोग तेना इतरान प्राणावती उसी मुख्य प्राण के द्वारा असन और पित्त जो वस्तु है उसके द्वारा अन्य इंद्रियों को भी रक्षा करता है तद ठीक है तेन मुख्य न यद स्नाती यद विपति मुख्य के द्वारा जो खाया पिया जाता है लोग खाता पीता है लोग अस्नाती स्नाति पिबती का करता लोक उसके द्वारा जो खाता पीता है लोग तो तेन अशितेन न मुख्य प्राण के द्वारा खाया पिया के द्वारा इतरान अवती पालय पालयती कहा घृणादि यदि रक्षा करता है रक्षण धातु है उसी धातु पालेगी तेन ही तेसाम स्थिति भवती मुख्य प्राण के द्वारा ही उनकी स्थिति है तेना माने मुख्य प्राण है ना तेसाम इंद्रियाणाम स्थिति भवती अगर मुख्य प्राण काम न करे तो काम कुछ भी नहीं चलेगा इनका घमंडल चूर चूर खत्म हो जाएगा ये कहते हैं अतः सर्वम भर मुख्य प्राण सर्वम भरा है आत्मम भरी में तो ई प्रत्यय सर्वम भर में खच प्रत्यय कहते हैं सर्वम भर एक नंबर टिप्पणी में दिया सर्वम भर कि प्राण संज्ञा प्राण का नाम है सर्वम भरा प्राण के एक नाम है सर्वम भरा कैसे तो कहा व्याकरण में सूत्र है संज्ञायाम भ्री त्री भ्री नि धारी सही पति दम खच प्रत्यय करता है टिप्पणी में सूत्र दिया है व्याकरण में सूत्र है सर्व शब्द को रख करके भ्रिय भर धातु से खच करके सर्वम भर बनाया हुआ है ये कहा सर्वम भर है प्राण अतो विशुद्ध वो सबका पोषक है इसलिए विशुद्ध है वो जो परोपकारी होगा विशुद्ध होगा जो स्वार्थी होगा अशुद्ध होगा ये सिद्ध होता है इसके द्वारा कथम पुनर्मुख्य असित पिताभ्याम स्थिति रेशम गम्य थे प्रश्न उठा कैसे पता लगता है कि मुख्य के द्वारा खाया पिया के द्वारा इन इंद्रियों की स्थिति होती है कैसे जाना जाता है प्रश्न आया तो उच्च कहा क्योंकि देखो अंतिम समय जो मुख्य प्राण खाना छोड़ देता है ना ये सब निकलना पड़ता है इंद्रिया सब निकल जाती है निकलना पड़ता है और खाने पीने की इच्छा नहीं है खाने पीने की इच्छा इनको है इनको कहा तृप्त है ये विषयों से इंद्रियां तृप्त नहीं है अंतिम मुख फाड़ देते हैं तो मुख फाड़ने का जो प्रतीक है इंद्रिया अतृप्त है और चाहती है विषय चाह रही उस काल में किंतु मुख्य प्राण के माध्यम से खाना था मुख्य ने खाना छोड़ दिया तो खाना नहीं मिला बात यह है इसलिए मुख फाड़ता है डाल दो कुछ विषय दो इंद्रिया की मांग है ऐसा लगता है उस काल एक कहा इसी मुख्य प्राण को ये तमु तो इस मुख्य प्राण को ये वह मुख्यम प्राणम मुख्य प्राण से वृत्ति मुख्य प्राण को नहीं मुख्य प्राण की जो वृत्ति है क्या अन्नपान अन्नपाने अन्नपान को प्राप्त न करके अंत तो अंत्य अंतिम अवस्था में माने मरण काले मरण काल अवित्वा मैंने अलग था मुख्य प्राण के द्वारा होने वाला जो वृत्ति थी अन्नपान वृत्ति उसके द्वारा इनको पुष्टि होनी थी चरमराना था इनको किंतु वो प्राप्त न करके अंतिम काल में मुख्य प्राण में खाना पीना छोड़ दिया मरण काल में अभिद्वा मैंने अलग प्राप्त करते हैं उत्क्रामती इंद्रिया समुदाय निकल जाती है उस काल में खाने नहीं मिला निकल जाती है इंद्रिय समुदाय निकल जाती है इंद्र समुदाय उत्क्रांति का ग्रहणादि प्राण समुदाय उत्क्रामती का कर्ता कौन ग्रहणादि प्राण समुदाय ग्रहणादि प्राण निकल जाते हैं क्यों अप्राणो ही न सकनोती असितुम पातुम बा बिना प्राण के खाने पीते खाना पीता बंद हो जाएगा सब इनका गमंड सारा समाप्त हो जाता है अप्राण ही ही माने स्मार्ट न प्राण के अभाव में अप्राण प्राण के अभाव काल में न सक्रोती अस्तित्व पा तुम ये खाना पीना कुछ भी नहीं कर सकते ये स्थिति है तेन तदा उत्क्रांति ही प्रसिद्ध है इसलिए उनकी निकलना प्रसिद्ध है खाना पीना बंद हो जाता निकल जाते हैं तदा उस काल में अंतिम काल में उत्क्रांति उनके निकलना प्रसिद्ध है ग्राणादि कलाव से उत्क्रांति प्रसिद्ध है ग्राणादि इंद्रियों के निकलना प्रसिद्ध है दृश्यते ही देखा है क्या उत्क्रांत मरण काल में देखा है मरणासन व्यक्ति की स्थिति में देखा है क्या देखा है प्राण से अशीशिषा खाने की इच्छा है इनकी अशी तुम इच्छा शिशा इंद्रिय समुदाय की या प्राण माने इंद्रिय समुदाय इनकी ये तो कभी तृप्त होते नहीं उस समय चाहते हैं अपने अपने विषय चाह रहे हैं दृश्यते ही उत्क्रांत मरणासन व्यक्ति में देखा है उत्क्रांति अवस्था में मरण काल में देखा है प्राण से अशिशिषा प्राण ने ग्रहण समुदाय इंद्र समुदाय में अशितुम इच्छा अशिशिषा खाने की इच्छा है उनकी क्यों अतो व्याददाती एवं आश्चर्य विवरण करोती इसलिए क्या व्यादता है खोल देता है मुख उस में मुख फाड़ देता है मरवासन अंदर व्यक्ति का मुख फटा हुआ दिखता है फड़ा हुआ दिखता है क्यों माने आश्य विदारण आश्य माने मुख है मुख खोल देता है इंद्रिय समुदाय मुख खोल देते हैं खाना चाहते हैं वो तद ही अन्न अलाभ है उत्क्रांत से लिंगम ये क्यों निकलना पड़ा अन्न का लाभ हो गया उनको मिल नहीं रहा इसलिए निकलना पड़ता है उनको विषय नहीं मिला अभी तो मुख्य प्राण ने खाना पीना छोड़ दिया मुख्य प्राण खाना पीना कर देता ये मस्त रहते तो विषय चाहते खूब तो अंतिम काल में इसलिए निकल जाते हैं मुख फाड़ देता है खाना चाहते हैं मुख्य प्राण ने साथ छोड़ दिया है इसलिए खाना पीना बंद हो गया तो निकल जाते हैं इंद्रिय समुदाय निकल जाती है ये यहाँ हेतु मिलता है ज्ञापक मिलता है कहा समय हो गया है टीका फिर करें ओमाप्यायन्तु सर्वाणी सर्व बलमिन्द्रियाणि ब्रह्म निराकुर्या मामा ब्रह्म निराकरो निराकरणस्व निराकरणवेस्तु तदा ते यौपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ सा